Упражнение по пройденному материалу. Упражнение 1. Прочтите вслух. तुम्हारी किताब कहाँ है क्या तुम्हें गुड़ नहीं चाहिए नहीं गुड़ हमें नहीं उन्हें चाहिए उन्हें क्या चाहिए उन्हें तुम्हारा चूल्हा चाहिए तुम्हारी खिड़की बड़ी है क्या तुम्हें बड़ा घर नहीं चाहिए पढ़ रहा है चिढ़ रहा था जाड़ा पड़ा बड़ा कड़ा जाड़ा पड़ रहा था सीता चिढ़ उठी डेढ़ सेर गुड़ लाओ